और ये तो नहीं हो सकता कि सब के सब मोमिन अल्लाह की राह में निकलें तो क्यों ना निकले उनके हर कबीले से चंद आदमी ताकि वो दीन में समझ हासिल करें और वो अपनी कौम को डर सुनाएं जब वो उनकी तरफ वापस आएं ताकि वो गुनाहों से बचें